बसमीम في المتكلم मलकत يقتدر بها अला تاليف كلام بليغ فعلم مما تقدم अन्ना كل बलीगिन ये आगे मतन आ रहा है फसीहन उसके आगे है वला अक्सा और बलागत मुतकलम ऐसा मलका है जिसके ज़रिए कलाम बलीग को तालीफ करने पर मरकब करने पर कादिर हो बलागत फिल्मतकलम ऐसा मलका है जिसके ज़रिए मुतकलम कलाम बलीग की तालीफ पर कलाम बलीग को मरकब करने पर कादिर हो यहाँ से बलागत फिल मुतकलम को बतला रहे हैं पीछे बतलाया था कि बलागत फिल कलाम किसको कहते हैं हम यहाँ से बलागत फिल्म मुतकलम के बारे में बतलाते हैं कि बलागत फिल्म मुतकलम वो ऐसे मलके को कहते हैं कि जिस मलके के ज़रिए मुतकलम कलाम बलीग को कहने पर बलाग कलीम को तरकीब देने पर कादिर हो सके और ये बात पहले आ भी चुकी है मलके के तारीफ वगैरह वो सब गुजर चुकी हैं उसी को बतला रहे हैं फ़ाउलिमा तकदमा बस जान लिया गया उन चीज़ों से जो गुज़र चुकी यानी फसाहत और बलागत की तारीफ में से गुज़र चुका है क्या क्या गुज़रा है वहाँ पर सब कुछ आ चुका है मलके की तारीफ वो पूरी तहकीक़ात वहाँ आ चुकी हैं अब यहाँ पर एक बात ये बतला रहे हैं कि गुजशत बातों से ये बात मालूम होती है कि अन्ना कुल्ला बलीगिन फसीहन वला अक्सा कि हर बलीग फसी होगा वाला अक्सा और इसके बरक्स नहीं होगा हर फसी हर बलीग फसी तो होगा लेकिन हर फसीह बलीग हो एहसान नहीं होगा हर बलीग फसी हो हर बलीग तो फसी होगा लेकिन हर फसीह बलीग नहीं होगा क्यों इसलिए कि बलागत के लिए फसाहत का होना ज़रूरी है बलागत के लिए फसाहत का होना ज़रूरी है कैसा हो सकता है कि फसीह हो फसाहत हो बलागत ना हो लेकिन ये नहीं हो सकता कि बलागत हो और फसाहत ना हो उसी को इन्होंने इस इबारत से बतलाया है फ़ाउलिमा बस जान लिया गया कि किस तरह जान लिया गया मिम्मा तकदमा उससे जो गुजर चुका है यानी फसाहत और बलागत की जो तारीफ के अंदर बातें गुजरी हैं उनसे ये बात मालूम हो चुकी है कि अन्ना कुल्ला बलीगिन फसीह कि हर बलीग फसी होता है वाला आकता और इसके बरक्स नहीं यहाँ पर फसीहन के बाद दे रखा है लियनल फसाहत माखूदतन फ़ी तारीफ़ी बलावती मुतलफ़न इसलिए कि फसाहत माखूद है ली गई है बलागत की तारीफ में मुतलकन यानी बलागत की तारीफ के अंदर फसाहत का लिहाज किया गया है कि बलागत के अंदर फसाहत का होना ज़रूरी है वलाक्सा इसके बरक्स नहीं इसमें आगे दे रखा है लईसा कुल्लू फसीहन बलीगन खैर फसी बलीग नहीं होगा क्यों नहीं होगा हो सकता है कि वो कलाम फसी तो लेकिन मुख्त हाल के मुताबिक ना हो तो कलाम मकतज हाल के मुताबिक ना होगा तो बलीग तो हो नहीं सकता फसी ज़रूर हो सकता है जब कलाम फसी होगा तो अब यहाँ पर एक चीज़ को ये हल फरमा रहे हैं शारह ने निकाला कलामन और कान मुतकलमन कि हर बलीग खाह वो कलाम हो या मुतकलम हो हर बलीग खाह वो कलाम हो या मुतकलम हो अब इस पर एक एतराज होता है क्या आपने कहा खाव कलाम हो या मुतकलम हो और आगे फरमाया अला इस्तेमाल लफ्ज़ मुश्तर फ़ी मानी यही ही कि लफ्ज़ मुश्तरक के उसके दोनों माना में इस्तेमाल होने की बिना पर क्या मतलब मतलब ये है कि यहाँ एक एतराज़ ये होता है कि देखो बलिगो कि ये कलाम हो या मुतकलम तो लफ्ज मुश्तरक इसकी दो किस्में हैं एक तो एक लफ्ज वो वज़ा किया गया हो दो माना के लिए एक लफ्ज वज़ा किया गया हो दो माना के लिए शुरू ही से शुरू ही से जैसे तोहर है तोहर और का लफ्ज़ है और उनका लफ्ज़ ये हैज़ और तोहर दोनों के लिए एक साथ वजह किया गया और एक है इश्तरा के मानवी इसको कहते हैं इश्तरा के लफ्जी और एक है इश्तरा के मानवी इश्तरा के मानवी का मतलब इस तरह के महानवी का मतलब ये है कि एक अमर कुल्ली हो और उसके तहत बहुत से अफराद जैसे इंसान है इंसान एक अमर कुल्ली है और उसके तहत बहुत सारे अफराद हैं जैद उमर बकर वगैरह बहुत सारे अफराद हैं इसी तरह यहाँ पर है पहली जो इबारत लेकर आए हैं आला इस्तेमाल लफ्ज़ मुश्तरक इसी मानी यही इसके अंदर तो इश्तरा के लफ्जी को बयान किया और आगे की जो इबारत है तावीली कुल्लुमा युतलफ़ आली लफ्ज़ुलबलीगी इसमें इस तरह के मानवी को बयान किया है इस तरह के लफ्जी को यहाँ पर इस तरह बयान किया कि बलीग है और इसके दो माना के कलाम बलीग हो और मुतकल में बलीग हो इस पर यह इश्काल होता था कि जो इश्तराक लफ्ज़ी है वो दोनों माना के लिए एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता तो उसका जवाब यह है कि इसके अंदर इख्तलाफ है कि दोनों माना के लिए एक साथ इस्तेमाल हो सकता है या एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता है तो चूंकि इसके अंदर इख्तलाफ है बाज़ लोगों का कौल ये है कि एक साथ इस्तेमाल हो सकता है तो उनके कौल के मुताबिक तो इसमें कोई उनके कौल के मुताबिक तो इसके अंदर अगर उनका कौल मानो तो कोई कोई इस्कान नहीं होगा और जो दूसरा है इस तरह के मानवी तो उस सूरत में तो किसी के नज़दीक भी कोई इख्तलाफ नहीं रहेगा और कोई इश्काल नहीं रहेगा दूसरा किस तरह क्योंकि तो ये अमर कुल्ली है कुल्लू मायतला को आलही बलीगी हर वो चीज़ के जिस पर लफ्ज बलीग का इतलाक़ किया जाए बलागत इसी को तो कहते हैं हर वो चीज़ जिस पर लफ्ज बलीग का इतलाफ किया जाए अब इसकी दो किस्में होंगी इसके दो फर्द होंगे दो फर्द क्या होंगे इसका एक फर्द तो कलाम बलीग और एक फर्द मुतकलम बलीग और इस तरह जो इश्तराक हो इसको इश्तराक के मानवी कहते हैं इसके अंदर कोई इश्काल नहीं होगा इसमें कोई इख्तिलाफ भी नहीं है उसी को यहाँ पर फरमा रहे हैं कि अन्ना कुल्ला बलीगिन कलामन अवकान मुतक कलामन काना अव मुतकलमन के हर बलीग खा वो कलाम हो या मुतकलम हो लफ्ज़ मुश्तरक के उसके दोनों माना में इस्तेमाल होने की बिना पर या इसको अगर ना मानो तो फिर इस तरह के माना भी मान लो या हर उस चीज़ या तावील पर किसकी लको आली ही लफ्जुल बलीगी कुल्लु लको आली ही लफ्जुल बलीगी की तावील पर अब यहाँ पीछे फिर लौट जाओ हर बलीग फसी है क्यों है लिअनल फसाहता माखूजतन फी तारीफ़ बलागती मुतलकन इसलिए कि फसाहत माखूज है ली गई है उसका लिहाज किया गया है मुतलकन बलागत की तारीफ में मुतलकन का मतलब चाहे बलागत कलाम हो चाहे बलागत मुतकलम हो वला अक्सा और इसका बरक्स नहीं अब यहाँ आगे इन्होंने एक लफ्ज़ निकाला अई बिलमानलवी जी यानी अक्सा से मुराद मान लगवी हैं लल मनतकी ना के मनतकी हैं इसमें ये बात बतलाना चाह रहे हैं तो मंत्र के अंदर ये होता है कि मूजिब कुल्लिया मूजिबा कुल्लिया इसका जो बराक आता है वो क्या होता है मूजिबा तालिब तालिबा लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बल्कि यहाँ पर लाक्सा कि इसका बिल्कुल उल्टा यानी बिल्कुल उल्टा ऐसा है कि हर फसी बलीग नहीं हो सकता है इसी को निकालकर लोहवी से बयान करना चाह रहे हैं फिर शारह ने और आगे तस्री कर दी इसकी आई सा कुल्लु फसीह बलीगन यानी हर फसीह बलीग नहीं होगा क्यों नहीं होगा लिजवाजूना कलाम फसीह गैर मुताबिक लिमख्तली इस बात के मुमकिन होने की वजह से कि कलाम फसी हो गैर मुताबिक मख्तल हाल मुख्त हाल के मुताबिक ना हो ये हो सकता है कि कलाम फसी तो हो लेकिन मकसद हाल के मुताबिक न हो इसी तरह एक अहतमाल और है क्या वकादा और ऐसे ही यजूज मलकतन अनिलमकसूदी मिन हाली और ऐसे ही हो सकता है निजायज जायज़ है मुमकिन है कि किसी को किसी के लिए मलका हो यानी किसी को मलका हासिल हो कि यक बिहा आलत ताबीर आनिल मकसूदी बिलफ्ज फसीह क्या मलका हासिल हो कि उस मलके के ज़रिए मकसूद को लफ्ज फसीह के साथ ताबीर करने पर कादिर तो हो कादिर हो लेकिन मिन गैरी मुताबकत मकतल हाल मुक्त हाल की मुताबकत के बगैर कि मुक्त हाल की मुताबकत ना करे अलबत् उसको ये मलाका हासिल हो कि वो मकसूद को लफ्ज़ फसी के साथ ताबीर कर सकता हो तो उसको फसी तो कहा जाएगा लेकिन चूँकि मकतब हाल की मुताबकत नहीं इसलिए उसको बलीग नहीं कहा जाएगा तो इससे ये बात साबित हो गई कि हर बलीग फसी तो होगा लेकिन हर हर हर बलीग फसी तो होगा लेकिन हर फसी बलीग नहीं होगा वाउलिमा ऐज़न أن البلاغة في अन अलबलागत फ़िल कलामी मरजहा أن يحصل حتى يمكن حصولها كما يقال مرجع الجود إلى इलगना अब यहाँ से ये बात बयान फरमाना चाह रहे हैं कि बलागत फिल कलाम इसका मरजा क्या है मरजा क्या है यानी मौकूफ आले क्या है बलागत फिल कलाम ही किस पर मौकूफ़ है किस पर मौकूफ़ है ये दो चीज़ों पर मौकूफ़ है क्या एक है अलतराज़ अनख़ी की माना मतन के अंदर के माने मुरादी के अदा करने में गलती से बचना और दूसरा है व इला तमजीज़ कलाम फ़सीह कलाम फ़सीह को कलाम गैर फ़सीह से मुमताज़ करना अलग करना बलागत का मौकूफ़ आले बलागत का मर्ज यानी वो चीज़ जिसका हासिल करना बलागत के हासिल करने के लिए बलागत के हसूल के लिए ज़रूरी हो मजा कहते हैं वो चीज़ के जिसका हासिल करना बलागत के हसूल के लिए ज़रूरी हो ये मौकूफ़ आले हो बलागत उन चीज़ों पर वो दो चीज़ें क्या हैं एक है मान मुरादी के अदा करने में गलती से बचना और दूसरा है कलाम फसी को कलाम गैर फसीह से अलग करना उसी को यहाँ से फरमा रहे हैं कि वाउलीमा अन अन्नल बलागत फिल कलाम मरजहा और जान लिया गया ये भी के बलागत फिल कलाम का मरज उसका मौकूफ आले क्या है इलातराज़ी अनिल ख़ाई फ़ी तादियतमाना माना मुरादी का अदा करने में गलती से बचना है एतराज़ है और वला तमनीजिल कलाम फसी अन गैरी और कलाम फ़सीह को कलाम गैर फ़सीह से मुमताज़ करना है तो ये दो चीज़ें हैं अब जो ऊपर हमने मरजा के बाद में इबारत छोड़ी है आई माया अजीबू इससे बतलाना चाह रहे कि मरजा किसको कहते हैं मा यजीबू अन हत्ता यमकिन हसूलहा कमा युकालु रल देना यानी वो चीज़ के ज़रूरी हो कि उसको हासिल किया जाए यहाँ तक कि उसका हसूल मुमकिन हो यानी वही मतलब हुआ इसका कि वो चीज़ जिसका हासिल करना बलागत के हसूल के लिए मौकूफ़ हो ज़रूरी हो अब यहाँ एक चीज़ इन्होंने पेश की कमा युकाल से इधर कहा जाता है मरजुल जूदी गिना सखावत का मरज वो गिना है गिना की तरफ है यानी सखावत का मरज गिना है कि आदमी सखावत कब करेगा जबकि उसको मालदारी हासिल हो मालदारी से ये मतलब नहीं कि बहुत बड़ा मालदार हो मतलब ये है कि उसके पास ऐसी चीज़ हो कि जिसकी वजह से जिसके ज़रिए से वो सखावत कर सकता हो <clears throat> देखो ऊपर से तर्जुमा मिला वाउलिमा ऐज़न और ये बात भी जान ली गई कि बरागत फिल कलाम का मर्ज यानी वो चीज़ के ज़रूरी हो कि उसको हासिल किया जाए यहाँ तक कि उसका हसूल मुमकिन हो जैसा कि कहा जाता है सखावत का मर्ज गना है इलाज यानी ख़तई की तादियतमाना का मर्ज मान मुरादी के अदा करने में गलती से बचना है अब आगे फरमा रहे हैं कि बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि माने मुराद को ऐसे लफ्ज से अदा किया कि जिसमें मकसद हाल की मुताबकत नहीं तो वो बलीग नहीं होता है उसी की ये तशरी है वह वरना तो बहुत सी मरतबा माने मुरादी को अदा किया जाता है बिला फजिल ऐसे लफ्ज़ के ज़रिए ऐसे के जो मकतब हाल के मुताबिक नहीं होता है फलायकून बलीगन बस वो बलीग नहीं होता वला तमीज़ कलाम फ़सीह आन गई और कलाम फ़सीह को कलाम गैर फ़सीह से मुमताज़ करना ये दूसरा मर्ज मौकूफल है जो था उसके बारे में भी आगे फरमा रहे हैं कि देखो बहुत से मरतबा इसके ख़िलाफ़ हो जाता है क्या कि वैला लरुबमा औरद कलाम अलमुताबिक हाल गैर फसीह कि बहुत सी मरतबा कलाम वालिद होता है जो मकसद हाल के मुताबिक होता है गैर फसीह लेकिन फसी नहीं होता गैर फसी होता यानी फसी नहीं होता तो भी क्या होगा फला यकून बलीगन तो वो बलीग नहीं होगा इसलिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं लिवजूब बिलफसाहत बिलबलागती क्यों ऐसा क्यों फसाहत के बलागत में वाजिब होने की वजह से ज़रूरी होने की वजह से यानी फसाहत का बलागत के अंदर होना ज़रूरी है वयदलूफ़ी तमयदलामफ़ी मिन गैरी तमयदलकलीमतफ़ीहती मिन गैरिहा आली हा अब आगे ये फरमाते हैं एक इसकाल होता है क्या आपने कलाम फसीह के बारे में तो जिक्र कर दिया कलाम के बारे में तो जिक्र कर दिया कि कलाम फसीह होना चाहिए जब ही जाकर ये बलागत फिल कलाम का वजूद होगा आपको ये भी तो कहना चाहिए था कि कलिमात भी फसी हों तो उसका जवाब देते हैं कि कलाम फसी उसी वक्त होगा जब के कलिमात फसीह होंगे कलाम का फसी होना वो कलिमात के फसी होने पर मौकूफ़ है वैद खलूफ़ी तमजीज़ कलाम फ़सीह बिन गैरी ही और दाखिल हो जाएंगे कलाम और दाखिल हो जाएगा कलाम के मुमताज़ करने में अलग करने में कलाम फसीह के अलग करने में बिन गैरी ही कलाम गैर फसीह से क्या दाखिल हो जाएगा तमजीज़लकलीमातफ़सीहती कलिमात फसीहा का मुमताज़ करना मिन गैरिहा कलिमात गैर फसीहा से क्यों ये तवक़ी आलिहा कलाम फसीह के कलिमात फसीह पर मौकूफ़ होने की वजह से कलाम फसीह के कलिमात फसीहा पर मौकूफ़ होने की वजह से तो ये कलाम फसीह उसी वक्त होगा जब कलिमात फसीहा कलिमात फसीहा जबकि कलिमात फसी होंगे वसानी यहाँ एक दूसरी चीज़ बयान की थी तमीज़ुल कलामी फसीह अनगैरी ही अब इसके बारे में फरमाते हैं वसानी और दूसरा यानी तमयीज़ुलफ़सीह मिन गैरी के फ़सीह को गैर फ़सीह से मुमताज़ करना कहते कि बाद तो वो चीज़ें हैं जिनको इल्म मतन लगत में बयान किया जाता है लगत से वो मालूम होती हैं जैसे गराबत है और बाद वो चीज़ें हैं जिनको इल्म सर्फ के अंदर बयान किया जाता है फिर यानी वो इल्म सर्फ से मालूम हो जाती हैं जैसे मुखालफत क्यास है इसी तरह कुछ वो हैं जो इल्म नाहू के से ताल्लुक़ रखती हैं उससे मालूम होता है जैसे जवाब तालीफ है ताक़द लफ्ज़ी है इसके अलावा कुछ चीज़ें वो हैं जिनको किस के ज़रिए जाना जाता है जो तनाफुर है तो तनाफुर को आदमी अपनी हिस के ज़रिए अपने ज़ौक़ के ज़रिए से ज़ौक़ सही के ज़रिए से जानता है तो उसी को यहाँ से बयान कर रहे हैं कि कलाम फसी को मुमताज़ किस तरह किया जाएगा के लिए क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं सानी और दूसरा यानी तमीजुलफसी बिन गैरी ही कलाम फसी को कलाम गैर फसी से मुमताज़ करना उनमें से बाज़ तो वो चीज़ें हैं जिनको बयान किया जाता है मायुबैन अयूज़ यानी वाज किया जाता है फ़ी इल्मी मतन इल्म मतन लगत के अंदर कल गराबती जैसा कि गराबत कलेमे का गरीब होना पहचाना जाएगा इल्म मतन लगत में अब आगे एक इसकाल का जवाब दे रहे हैं वनमा काला मतन लगती अई मारिफत अवज़ामफ़रदाती लगत आम मिनजाली खा जैसे फरमा रहे हैं मुसनफ़ ने मतन लगती उन्होंने कहा कि इलमी मतन लोहती मतन का लफ्ज क्यों लेकर आए कहते कि लोगत जो है लोगत इल्म लोगत ये है आम इसके अंदर तमाम उलूम अरबिया की किस्में शामिल हो जाती है इल्म सरफ इल्म नह वगैरह बहुत सारी किस्में शामिल हो जाती है लेकिन मतन लोगत जो है ये है ख़ास और इसके अंदर सारी किस्में शामिल नहीं होंगी क्योंकि हमें इसके अंदर सिर्फ ये पहचानना है कि अभी इस कलीमे के अंदर गलाबत है या नहीं है तो ये सिर्फ मतन लगत से ही मालूम हो जाएगा इसलिए यहाँ पर ये लफ्ज़ मतन को बढ़ाया गया है फरमाते हैं और दूसरा यानी फसीह को मुमताज़ करना गैर फसीह से उनमें से बाद वो चीज़ें हैं जिनको बयान किया जाता है यानी वाजह किया जाता है इल्म मतन लगत के अंदर कल गराबती जैसा कि गराबत वनमा काला मतन लगती और जजीनेस के मुसनफ़ ने मतनलुगा कहा यानी मारफत अवज़ामफरदाती मुफरदात मौजुआ का पहचानना जानना इसका मतलब ये जो इल्म है इसकी जगह आया मारफत मतन की जगह आया अवज़ा और मुफरत लगत की जगह आया मुफरदात मुफरदात यानी मुफरत कलिमात की वज़ों का कि इसको वज़ा कैसा किया गया है इसका पहचानना ना कि उसके अंदर सरफी वगैरह तहकीक़ात का जानना इसलिए यहाँ पर मतन का लफ्ज़ लेकर आए हैं लियानलगता आम मिनजाली का इसलिए कि लगत वो उससे आम है यानी मतन लगत से आम है नीचे लिखा हुआ है लियानतलक वाला जमी अफ़सामिलरबीती इसलिए कि वो बोला जाता है लगत का लफ्ज़ बोला जाता है अरबी ूम की तमाम किस्मों पर और मिनजाले का इसके नीचे लिखा हुआ है आई मिन मतन लगती यानी मतन लगत से इसलिए कि लगत ये मतन लगत से आम है यानी भी यरफ़ तमीज़ सालमराबत गैरी बिमाना अन بمعاني المفردات علم أن ما عداها عما يفتقر إلى تنقير أو تخريج فهو غير سالم من الغرابة अब यहाँ से एक इश्काल का जवाब देना चाह रहे हैं एक बात जो यहाँ पर एक शुबा हो रहा है उसका जवाब देना चाह रहे हैं इन्होंने कहा कि दूसरी किस्म दूसरी क्या है फसीह को गैर फसीह से मुमताज़ करना उनका पता कैसे चलेगा मिनहू उनमें से बाज क्या है वो चीज़ें हैं जो बयान की जाती हैं मतन लगत के अंदर इसकाल होता है कि लगत के अंदर तो देखते हैं तो ये जो गराबत वाले अल्फाज हैं वो तो मिलते नहीं हैं गराबत वाले अल्फाज जैसे तका का तुम है इसी तरह मुसर्रज वगैरह हैं तो ये अल्फाज तो मिलते नहीं हैं तो कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो लगत के अंदर जिक्र किए गए हैं मतलब ये है कि उनके ज़रिए से पहचान लिया जाता है जब लगत की जो राइज किताबें हैं बड़ी बड़ी लगात हैं उन लगात को देखा जाता है और उनके अंदर इन अल्फाज को ढूंढा जाता है और वो अल्फाज नहीं मिलते तो इससे मालूम हो जाता है कि ये जो अल्फाज हैं ये अल्फाज गरीब हैं अगर ये गरीब ना होते तो फिर इन लगात के अंदर मिल जाते उसी को यहाँ से फरमाने हैं यानी भी यानी इसके ज़रिए से ये बात पहचान ली जाती है क्या तमीज़ सालिम मिनल गराबत अन गैरी सालिम मिनल गराबत गराबत से महफूज का मुमताज़ करना अलग करना किससे अन गैरी यानी गैर सालिम मिनल गराब जो गराबत से महफूज नहीं है सालिम मिनल गराबत जो गराबत से महफूज हो इसको मुमताज़ करना किससे जो गराबत से महफूज ना हो तो इसके ज़रिए से ये चीज़ पहचान ली जाती है विमाना नहु इस माना कर के जो शख्स जिस शख्स ने ततबाल कुतुबल मुतदाविलता किताबों में तलाश और जुस्त जस्तजू की यानी लगतों को उठाया और उसमें लफ्ज़ को तलाश किया वहापा बिमानमफरदातमानूसती और उसने मानी मुफरदात जो मानूस है मानी मुफरदात मानूसा यानी उन मानी का अहाता किया जो मुफरद हैं और मानूस हैं मानूसतुल इस्तेमाल हैं जिनका इस्तेमाल होता है तो जब उसने इनका अहाता किया देखा कि भाई ये अल्फाज हैं इनका इस्तेमाल होता है बड़ी बड़ी कुतुबों को किताबों को उठाया तो उसके अंदर वो अल्फाज नहीं मिले तो मालूम हो गया उलिमा अन्नमा अदा तो जान लिया गया कि जो इसके अलावा है अम्मा उन चीज़ों में से हैं कि मोहताज हुआ जाता है इला तनकीरिन और तकरीरिन तनकीर यानी तफ्तीश की जानब या तकरीर की जानब तफ्तीश की जानब कि जो है इनको तलाश करना पड़ेगा जस्तजू करनी पड़ेगी जैसे तका कहाँ है तो इसके मान लगत में नहीं मिले तो इसका मतलब इसके अंदर तफ्तीश है कि ये इसमें नहीं तो गरीब है इसी तरह तकरीर मुसरत इसको किस किस तरह से जो है इन्होंने तकदीर किया था कि सुरेजी तलवार की तरह और वो सब जो है आया था पीछे गुजर चुका है फगुआ गैर सालिम तो ये बात मालूम हो जाती है कि ये गैर सालिम मिनल गराबत है फगुआ गैर सालिम मिनल गराबती कि ये गराबत से महफूज नहीं है तो गराबत से महफूज होने का पता ये नहीं कि लगत के अंदर इसको जिक्र किया जाएगा कि ये लफ्ज़ गरीब है बल्कि लगत के अंदर लगात के अंदर जब ये लफ्ज़ नहीं मिलेगा तो उस वक्त में खुद ब खुद ये मालूम हो जाएगा कि ये लफ्ज़ जो है गराफत से महसूस नहीं है यानी इसके अंदर गराफत है वह भी हाल फसाद माकीला इन्नहू मतन लगती आगे फरमाते हैं और इसी से जाहिर हो गया फसाद उसका फसाद जो कहा गया है कि लईसा फी इल्मी मतन लगती के इल्म मतन लगत में नहीं है ये बात कि बाद अल्फाज मोहताज होते हैं फी मारिफती ही उसके पहचानने में हो इस बात की जानब के उससे बहस की जाए किसमें फिल कुतबिल मबसूतती फिल लगती लगत की फैली हुई किताबों में यानी बड़ी बड़ी किताबों में यहाँ से ये अल्लामा जोजनी हैं वो ये कहते हैं कि देखो इल्म मतन लगत के अंदर वही बात है जो ऊपर आ चुकी है कि इल्म मतन लगत के अंदर जो है ये बात नहीं मिलती है कि भाई कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि उनको पहचानने की ज़रूरत हो कि उनमें बहस की जाए तो कहते हैं कि भाई हमने जो ऊपर बात कह दी तो उससे ये वाली बात भी हल हो गई कि हम कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो लगात के अंदर ये बात मिलेगी कि ये लफ्ज़ करीब है बल्कि ये तो जाना जाएगा इस तरह कि जब उसमें नहीं मिलेगी लुगात में नहीं मिलेगा वो लफ्ज़ तो जान लिया जाएगा कि ये लफ्ज़ गराबत से महफूज नहीं है और इसी से जाहिर हो गया उसका फसाद के जो कहा गया है कि लई सफ़ी मतन लगती के मत इल्म मतन लगत में नहीं है ये बात के बाद अल्फाज मोहताज होते हैं उसके पहचानने में इस बात की जानब के उससे बहस की जाए लगत लगत की बड़ी बड़ी किताबों में मबसूता फैली हुई यानी बड़ी अब यहाँ पर पीछे से जोड़ेंगे इसको कहा था कि बयान किया जाता है वाजह किया जाता है कहा में इल्म मतन लोगों में और तो दूसरी चीज़ बदला रहे अवफ़ी इल्म तशरीफ़ी या इल्म तशरीफ में इल्म सर्फ के अंदर का मुखालफत क़यास जैसे कि मुखालफत क्यास है अल का लफ्ज़ आया था उसी को यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है इस भी यो अराफू अजलली इसलिए कि उसके जरिए से पहचान लिया जाता है कि अजलल ये क़ियास के मुखालिफ है ना के अजल कैसे पहचाना जाता है इल्म सर से अवफ़ी इल्म नाहवी या इल्म नाहव में जैसे ज़ौफ़ तालीफ और ताक़ीद लफ्ज़ी है मसला इजमार कबल ज़िक्र है तो इसमा कबल ज़िक्र कैसे पहचाने जाएगा नाहु के ज़रिए से ही जाना जाएगा इल्म नाहु बतलाएगा कि इसके अंदर जवाब तालीफ है इसके अंदर ताकीद लफ्जी है अब फरमाते हैं अव युजरा को बिलहिस्सी उनमें से बाद वो चीज़ें हैं कि जिनको हिस्स के ज़रिए से जान लिया जाता है ये वो चीज़ें चल रही हैं कि जहाँ जिनसे फसी को गैर फसी से मुमताज़ किया जाता है कद तनाफुर जैसे कि तनाफुर है इसके ज़रिए जाना जाता है जैसे कि तनाफुर है तो तनाफुर को जो जाना जाता है वो हिस के ज़रिए से ही जाना जाता है इंसान का ज़ोक़ सही ये कह देता है कि अभी इसके अंदर तनाफुर है यानी अल्फाज ज़बान पर शकील हो रहे हैं फरमाते हैं इन भी यो अरफू अंदर मुस्तर मुतनाफिर दून मुरतफ़ इसलिए कि उसके ज़रिए पहचान लिया जाता है कि मुस्तर मुतनाफिर है ना कि मुरतफ़ वक़ा तनाफुरकलिमात और ऐसे ही तनाफुर कलीमात जैसे लईसा कुरबा कबरी हरबिन कबरू आया था कि हर एक फंसी है लेकिन जब इनको एक साथ मिला दिया गया तो इनके अंदर तनाफुर हो गया इसको भी जान लिया जाता है युद्ध बिलहिस के जरिए से वह हुआ आई मा युबैन फिलूमजकूरत अब यहाँ से नीचे जोड़ेंगे वह हुआ मा अदल मुताबिल वह हुआ मा अदत ताक़ीदिल मानवी की और वो यानी पीछे जो माँ आया था ये उसकी तरफ ज़मीन लौट रही है ये ताक़द मानवी के अलावा हैं और ताक़द मानवी भी वो मुखिल होती है मुखिल बिलफसाहत होती है फरमाते हैं इसकी ज़मीर के मर्जा के बारे में वह हुआ अई माँ युबैन फ़िलूमज़कूर थी और वो यानी वो चीज़ें जो ूम मजकूरा के अंदर जिक्र की गई ये ऊपर जाया था इल्म मसन लगत इल्म सरफ इल्म नहवे या युद्रक बिलहिस या इसके ज़रिए से जानी जाती हैं कहते हैं पस ज़मीर आद इला माँ पस ज़मीर लौट रही है लौटने वाली है माँ की जानब माँ कौन सा यहाँ आया था पीछे वस्तानी मिन गैरी मिनु मा युबैन ये मुराद है बाद लोगों ने यह कहा कि इसकी ज़मीर का मर्जा युद्ध रखो बिलहिस है तो यहीं पर ही इसके करीब है हुआ से पहले है कहते कि नहीं ये इसकी ज़मीर का मर्जा नहीं है उनका ख्याल गलत है और बहुत ही ज़ाहिरी ये गलती है वमन ज़ामा अन्नहु आइदन इला मा यदरकु बिल हिस्सी फकत सहा सहवन ज़ाहिरन और जिन लोगों ने गुमान किया है कि वो लौटने वाली है ज़मीर माँ उस चीज़ की जानब माँ युद्रकु बिलहिस की तरफ युद्रकु बिलहिस ऊपर आया था कि इसकी तरफ ज़मीन लौट रही है कहते कि फ़कत सहासा हमन ज़ाहिरन ये खुली हुई गलती है खुला हुआ सहु है मादत ताक़ीदमानवी अदलाफ़ बितिलकलूम वला बिलहस्सी तमजीज़ालम मिनत ताक़ीदमानवी अनगैरी अरे फरमाते हैं ताक़ीद मानवी ऊपर तो ताक़ीद लफ्ज़ी के बारे में ताक़ीद मानवी जो होती है इसकी मिसालें पीछे आ भी चुकी हैं देखो ताक़द मानवी के अलावा हैं ये जो ऊपर चीज़ें आ चुकी हैं बाकी ताक़द मानवी से भी महफूज होना ज़रूरी है फरमाते हैं ईद ला यौरफ़ु बिल कलूमी वला बिलहिस्सी इसलिए कि उनूम के ज़रिए नहीं पहचाना जाता है और ना ही हिस्स के ज़रिए पहचाना जाता है क्या तमजीज़ालिम मिन ताक़दमानविया गैरी ताक़द मानवी से सालिम महफूज होने को मुमताज़ करना अनगैरी ही उसके अलावा से यानी ताकीद एक अतालिम मिन ताक़द मानवी एक अतालिम मिन गैरी ताक़द मानवी ताक़द मानवी के अलावा से मुमताज़ करना दिमाग से नहीं होता तस्वुर इसलिए कि उन उलूम के ज़रिए से पहचाना नहीं पहचाना जाता है किसको ताक़द मानवी को और ना ही ताकीद मानवी को इसके ज़रिए पहचाना जाता है इससे इम्तियाज इनसे नहीं होता उसी को फरमाया इन्होंने यहाँ पर ये क्या नहीं पहचाना जाता उस सालिम मिन ताक़ीद मानवी जान गई के सालिम मिन ताक़ीद मानवी को अनगैरी उसके अलावा से यानी सालिम मिन गैरी ताक़ीद मानवी से फ़ालिमा अन्न मरजाल बलागती बाज़ु मुबैन फ़िरमज़कूरती वबाज़ु मुदरकन फरमाते हैं कि ये बात जान ली गई है कि बलागत का मरज यानी वही मौकूफ़ वाले कि जिन चीज़ों का जानना जिन चीज़ों का होना बलागत के लिए ज़रूरी है बलागत फिल कलाम के लिए उनमें से बात तो वो चीज़ें हैं जो ूम के अंदर बयान कर दी गई गराबत मुखालफत क़ियास ज़ौफ़ तालीफ़ ताक़ीद लफ्ज़ी वगैरह है और बाज वो चीज़ें हैं जो हित के ज़रिए से जान ली गई हैं वो क्या है तनाफुर हरूफ वगैरह जो आए थे अभी वो हैं तनाफुर हरूफ हैं अब कह रहे थे कुछ चीज़ें और बाकी रह गई हैं क्या माने मुरादी के अदा करने में गलती से बचना और ताकीद मानवी से अहतर ये चीज़ बाकी रहेगी तो इसलिए ज़रूरत पड़ी दो तो इल्मों की इल्म बयान की और इल्म मानी की वबाक़ियातराज़ आनख़ाई फ़ी और बाकी रह गया एतराज़ मान मुरादी के अदा करने में गलती से और गलती से बचना और ताखिर मानवी से बचना दोबारा करो और माने और बाकी रह गया माने मुरादी के अदा माने मुरादी के अदा करने में गलती से बचने से एतराज और ताक़ीद मानवी से एतराज ये दोनों चीज़ें बाकी रहीं तो फमस्तलहाजतमी मुफीदई लिजाली का तो ज़रूरत पड़ी ज़रूरत ने छुआ यानी ज़रूरत महसूस हुई ऐसे दो इल्मों की जो इसके लिए मुफीद हों फ़वाज़ाऊ इल्मल मानी तो वज़ा कर दिया उलमा ने किसको इल्म मानी को पहले के लिए पहले के लिए यानी अलतराज़ अनखतई की दिल मान मुराद के लिए मान मुरादी के अदा करने में गलती से बचने के लिए इल्म मानी को वज़ा कर दिया और इल्म बयान को वज़ा कर दिया काय के लिए दिल यानी ताक़ीदी ताक़ीद से बचने के लिए व इशारा और इसी की तरफ इशारा किया मुसनफ़ ने अपने कौल से क्या वमा युतरजुबी अनिलवली इल्मानी और वो चीज़ के जिसके ज़रिए से पहले से बचा जाए वो क्या है इल्म मानी है पहले से मुराद शारह ने निकाल कर बदला दिया अल ख़ताई फ़ी ताजियतिल मानल मुरादी यानी मान मुरादी के अदा करने में ख़ता से बचना माने मुरादी का अदा करने में फंसा करना इससे बचा जाएगा कैसे इल्म मानी के ज़रिए से वमा युख्ताराजुबी यानी ताक़ीद मानवी जी और वो चीज़ के जिसके ज़रिए है वह जिसके ज़रिए ताक़ीद मानवी से बचा जाएगा वो इल्म बयान है अब आगे फरमाते हैं कि दो इन दोनों इल्मों को इल्म मानी और इल्म बयान को इल्म बलागत भी कह दिया जाता है इसका नाम इल्म बलागत भी रख दिया जाता है क्योंकि इल्म बलागत तो इन दोनों के साथ में ज़्यादा खसूसियत हासिल है वसमू हादमिन बलागती और उन्होंने ने बलागत ने इन दोनों इल्मों का नाम इल्म बलागत रखा क्यों ली मकानी मजीद अख्तसास लहू माँ बिलबलागती उन दोनों के बलागत के साथ अख्तसास के ज़्यादा होने की वजह से खसूसियत के ज़्यादा होने की वजह से व इनकानत बलागत ततवक़ अलामी बलागत वो मौकूफ़ होती है उन दोनों के अलावा पर भी उन दोनों के अलावा ूम पर भी जैसे इल्म सर्फ है इल्म नहु है इल्म लगत वगैरह है लेकिन चूँकि इन दोनों को ज़्यादा खसूसियत हासिल है बलागत के साथ तो इसलिए इल्म मानी और इल्म बयान को का नाम इल्म बलागत रख दिया जाता है आगे फरमाते हैं तुम तवाब अलबलागती इलाखरा इसके बाद अब ज़रूरत पड़ी बलागत के तवाबे के जानने की उसके पहचानने की कि भाई इसके लिए दूसरा इन होने चाहिए तो इन्होंने उस इल्म के लिए उसको पहचानने के लिए इल्म इल्म बदी को वज़ा कर दिया और फिर उसकी तरफ मुसनफ़ ने अपने कलाम से इशारा किया है तुम महताजमारिफत तबाब अलबलागती फिर ज़रूरत पड़ी महताज हुए बलागत के तबाबे के पहचानने के किधर इलाम इल्म नाफा दूसरे इल्म की तरफ फवाजाऊ लिजालिका इल्म बदी तो उन्होंने उसके लिए यानी उस मारिफत के लिए इल्म बदी को वज़ा कर दिया वही अशार बकौली और उसकी तरफ मुसनफ़ ने अपने कौल वमायरफ़ी वजूह तहसीन इल्मबदी से इशारा कर दिया वमायरफ़ी और वो चीज़ के जिसके ज़रिए वजू वो जिसके ज़रिए वजूह तहसीन यानी तहसीन कलाम को हसीन बनाने के तरीक़े की पहचान की जाए उनको पहचाना जाए उसको क्या कहा जाता है इल्मबदी तो इल्म बदी कहा जाता है वलम्मा काना हादल मुख्तसरा फ़ी इल्म बलागती व तवाबिहा इन हसारा मकसूद हो फ़ी सलासती फ़नून ये और जब के ये मुख्तसर इल्म बलागत और उसके तवाब में हैं तो इसको मुनहसर कर दिया इन इनहसरा मकसूद हो इसके मकसूद को मुनहसर कर दिया तीन फ़नून के अंदर तीन फ़नून क्या क्या हैं इल्म मानी इल्म बयान और इल्म बदिय अब आगे एक बात ये बतला रहे हैं कि बहुत से लोग जो है इन तमाम के तमाम का नाम इल्म बयान रख देते हैं और बाद ये कि पहले को यानी इल्म मानी को के पहले को कहते हैं इल्म मानी और बाद के जो दो हैं इल्म बयान और इल्म बदी और बाद के जो दो हैं इल्म बयान और इल्म बदी उनको इल्म बयान कह देते हैं देखो हम्म वो कसीर मिनन्नास और बहुत से लोग इसमिल जमिया इल्मल बयानी सबका नाम रखते हैं इल्म बयान तीनों को इल्म बयान कह देते हैं वबाज़ुम जसमिल अव्वला इल्म मानी वल अखीरनी बयाना बयान बदिया इल्म बयान और उनमें से बाज पहले को पहले का नाम रखते हैं इल्म मानी और दो का अखीर बाद के दो का यानी बयान और बदिया का नाम रखते हैं इल्म बयान वह सालिसता इल्मबदी सलासता और तीनों को हाँ ठीक है वह सलासता और तीनों को इल्म बदी कह देते हैं यानी बाज़ुम युसमित सलासता इल्मुल बदी उनमें तो बाज़ लोग वो हैं कि जो तीनों को ही इल्म मानी को इल्म बयान को और इल्म बदी को तीनों को ही क्या कहते हैं इल्म बदी कहते हैं कि वला वजूह वजूह ही और इसकी वजूह मुनासबत मख्फी नहीं है इल्म मानी के ज़रिए से इंसान कलाम करना सीखता है कि किस तरह से कलाम को किया जाता है फिर उसको अपने कलाम के अंदर पेश करता है और उसके अंदर फिर तहसीन को लेकर आता है